मुहिमग चलतन हो हारे छिनु छिनु चरण सरोज निहारी सबहि भातु पिय सेवा करे हो मार्ग जनित कल श्रम हरी पाज पकारी बैठ तरु छाहे करे हम बाऊ मुदित मनmai श्रम कन सहित शाम तनु देखे कह दुख सम प्राणपति पेखे क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी पंखा झलूंगी पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगी सममहित्रीन तरु पल्लव से पाय पलोट हे सब निशिदासी बार बार बेदो मूरत जो हे लागे तात बयार नमो को प्रभु संग मोही चितवन हारा सिंधु हे सिंह हे जे मे ससक सियारा मैं कुमारी नाथ बन जोगो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो तुम ही उचित तप कह समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेंगी प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है अर्थात कोई नहीं देख सकता जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग ऐसे हु बचन कठोर सुने जो नहीं दया मिलेगा ऐसे हु बचन कठोर सुने जो न हृदय मिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे अस कहल भय भाई बचन बियोग सकहे सभारी रघुपति जिय जाना हठि राखे नहीं राखे ही प्राण कहे वो कृपार भानुकुल था परिहर सोच लहु बन सा नहीं विषाद कर अवसर जो भेग करहु बन गवन समाज ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं वे बचपन के वियोग को भी न संभाल सके अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो आज विषाद करने का अवसर नहीं है तुरंत वन गमन की तैयारी करो कही प्रिय बचन प्रयास मुझाए लगे मात पर आशीष पाए देगी प्रजा दुख मेट बयाए जनने नेठुर बिसर जन जाए फिर हे दशा विधि बहुर कि मोरे देखी हऊ नयन मनोहर धन सुभरी तात कब हो जननी जियत बदन बेध जो है श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी बहुर बच्छ कहे लाल कहे रघुपति रघु बरतात बोला लगा हर सिन रखे हऊगात हे तात वस कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी